बहुत मुश्किल सुनने को मिलती है ये बड़े सौभाग्य की बात हमको मिल रही है तो बड़े आनंद से प्रेम के साथ में उत्साह के साथ में उसको सुनो अब जब कथा में उसको रुचि नहीं होगी तुम चाहे जितना खुश हो और चाहे जितना सुमत हो और कथा में कुछ नहीं होगी तो क्या होगा कथा के दो प्रभाव एक तो कथा व्यक्ति को बुद्धि को विकसित करके ज्ञान प्रदान करती है भगवान का प्रेम प्रदान करती है और दूसरे कथा का प्रभाव कि जो लोगों को सुमत सुचित सुख नहीं होंगे उनको कथा निद्रा मिल जाती है ये श्रम है इसके बाद जो समझ होगा वो फिर सुशीलता की तरफ बढ़ेगा शिक्षिता भी घर में आएगी तब वो व्रत का होगा फिर हम उसको रुचि आएगी अपराध फिर खोल करके किताब सुनेगा सावधान होकर के सुनेगा एक एक बात को पकड़ने की कोशिश करेगा और फिर जब ऐसा होगा तो हरिदास हरिदास मन का बेहद भगवान का भक्त होगा उसके अंदर में भक्ति भी आएगी जो कथा में जिसको प्रेम है वही भगवान का भक्त भी बने और कथा में रुचि है नहीं भगवान का भक्त हो जाए तो ये भी बात है ऐसे नहीं कथा तो मैंने कहानी मात्र नहीं है कोई आदत पर तुम परमात्मा क्या है कि किताब ऊपर लोगों ने कहा उपनिषद है वो वो भी तो भगवान की कथा ही है इस प्रकार से देखते हैं कि गीता भगवान की कथा है भीषण तो भगवान की कथा है तो भगवान की कथा में चाहे ये उनके चरित्र है तो भी भगवान की कथा है इनमें जब व्यक्ति की रुचि होगी इसका भक्ति आएगी जब भगवान को जानेंगे तो उनके भक्ति कहाँ जाएगी जिस श्रोता में जनता क्रमता इतनी बातें हों कि सुमत हो सुखी हो सुखी हो कथा में देश की प्रेम हो भगवान का भक्त हो तो फिर ऐसे कृपा करके वक्ता भी भगवान की महिमा को अधिक से अधिक गंभीरता के साथ और भी सूक्ष्म बातें बताते चले जाते हैं और सूक्ष्म बातें बताते चले जाते हैं अब श्रोता थोड़ी बातें समझी उसके बाद समझ में नहीं आती अब अगर झाकता है भागने की कोशिश करता है तो फिर आता है बहुत बताओ आगे की बात जो है बताने की सूक्ष्म बातें हैं वो नहीं बताएंगे इसलिए कहते हैं कि भाई माँ अति गोगमते सर्जन करें प्रकार अब इसमें भगवान की महिमा में कुछ प्रारंभिक बातें हैं और कुछ गोपनीय बातें हैं इसमें शास्त्रों में जगह जगह शास्त्राणों में कि भगवान के जो दिव्य चरित्र है ये ये बातें भगवान की है वो जहाँ तहाँ नहीं बतानी चाहिए भगवान की कथा सुनाओ जैसे उनकी जो राष्ट्रमयी बातें बहुत सी है उनको जहाँ तहाँ नहीं बताना चाहिए राष्ट्रमयी बातों के माने जो अधिकारी तक हैं उनके सामने सुनने के अधिकारी हो सुने समझे तो उनको बता दो और नहीं तो कोई समझने वाला न हो ध्यान देने वाला न हो तो दर्शन उनको क्या बताना मना करो उनके रामायण में भी प्रकार से कि भगवान के चरित्रों को उनकी लीलाओं को जो रहस्यमयी है वो हर किसी को नहीं बतानी चाहिए और फिर उपनिषदों की तो उपनिषदों का ज्ञान तो गोप्य ज्ञान कही है विज्ञात भी करके प्रसिद्ध ही है अब वो हर किसी को बता ले तो वो उसका उपयोग नहीं है वो जिस समय सुनेगा तो नहीं और कभी कभी बहानकार भी हो सकता है ये जो है बात नई बातें जो ज्ञान की उनको जहाँ तहाँ नहीं बताई जाती तो इसलिए कहते हैं यही बात यहाँ पर आई शंकर जी ने इनके प्रसंग में कालकृष्ण और द्रव्य के संबंध में कही वही बात बालकांड में जब पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न किया तो उस समय भी पार्वती ने भी भगवान शंकर जी से कहा कि हमने जो पूछा वो तो आप बताइए लेकिन हमको ये न समझ करके हम अनधिकारी हैं तो कोई और भी बातें राष्ट्र की बातें हों तो जो आप जानते हैं वो भी हमें कृपा करके बताइए ऐसे करके पार्वती जी उनसे पूछा और शंकर जी ने भी उनसे किसी प्रकार से फिर उनसे कहा कि नहीं नहीं तुम अधिकारी हो तुमने के तो लिए तथा भगवान की पूछी है लोक कल्याण के लिए पूछी है तो तुमको तो इस प्रकार का अनुभव नहीं हो सकता तुमको तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती ये सब तुम्हारे कृष्ण आदि है लोक कल्याण के लिए ऐसे करके शंकर जी ने फिर उनको परम पवित्र कथा सिद्ध कथा ज्ञान को सुनाई आगे देखिए बोलता सुंदर बहोरी नवनाथ तुम शंकर मोहन माया मोह पर तुम दाया मोहन से खगपति सोही रघुपति दीन बड़ाई मोही

महिमा जो गंभीर महिमा है जो कि कथा कथा में उतनी नहीं आती है उतनी अलग से बोली को बताते हैं कहते हैं कि बोली उपाधि बबोरी आपका कृष्ण इसके बाद फिर फिर बोले कि कथा तो हो चुकी थी लेकिन जब गुरु के प्रकार से कहने पर उन्होंने फिर काभूषण क्या कहते हैं कहते हैं कि नवल नाथ पर कीर्तन पूरी फिर उनको तो उनको तो गले के ऊपर बड़ा जैसे प्रेम उत्पन्न हो गया उनको लगा जैसे तो भगवान की कथा बड़ा प्रिय है उनको और उनके इस प्रकार से उससे शांति भी मिली भगवान की भक्ति भी उनके हृदय में आ गई उनको उनका भी आ गई तो उनको गुरु को गुरु के प्रति उनको हृदय में साधु संघ के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया नरज पन्नाथ पर प्रीत न तोड़ी तो मैंने बहुत अधिक प्रीत उत्पन्न हो गई उनके तो सब गिरिनाथ पूछ तुम मेरे अब उनसे बोलते हैं कि ये नाथ आप हमारे सब प्रकार के पूजनी नाथ के माने ये जब पक्षियों के राजा होने के कारण थे उनको राजा बन स्वामी इसलिए नाच करके या स्वामी करके उनको संबोधन किया कि आप तो हमारे सब प्रकार के पूजनी है सब पक्षियों में कैसे सब प्रकार के पूजनी है जैसे एक बार तो ये कृपा पात्र बनाए थे तेरे क्या जो है भगवान उनके जो भगवान की कथा पात्र है एक तो पक्षियों के सबके राजा हैं इसलिए नहीं है और फिर भगवान के लिए आपके पास आपके हैं मैंने तो भगवान ने आपको अपने पास रखा आपके वाहन की तरह से पार्षद की तरह से आपके साथ में रखते अपने साथ में रखते हैं तो उनकी कृपा आपके ऊपर है उनकी सेवा में आप भगवान के लगे हुए हो भगवान की सेवा में लगा हो और जिसकी सेवा भगवान स्वीकार करे तो उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है इसलिए आपके ऊपर की कृपा होने के कारण से अब आप हमारे पूजनी अब संतों के लिए वही पूजनी है जो भगवान के भक्त ज्ञानी हो सचरित्र हो सदगुणी हो उनके लिए सब पूजनी है उन्हीं आदर करते हैं तो इसलिए कहते हैं कि हमारे आप पूजनी है और तुम्हें न संशय लोग ने माया कि कैसे आप जैसे व्यक्तियों को सबसे राजा भगवान के आपके पर आप तुम लोग कैसे हो सकता है ये कहते हैं कि तुम्हें न संशय मोह न माया न तुम्हें माया गिर सकती है न तुम्हें मोह हो सकता न संशय हो सकता कोई अब जब भगवान के अधीन रहे उनकी सेवा में कोई लगा हो उसको भी माया छोड़ दे तो, तो नियमित देने की बात हो गई वो तो जो भगवान से जीवित है उनकी माया घेर है जो भगवान के अनुकूल हो भगवान की सेवा हो उसकी माया कैसे घेर सकती है भी आपको तो माया भेज नहीं सकती आपको लोग में पढ़ नहीं सकते संशय आपको हो नहीं सकता है स्थिति इस प्रकार की है लेकिन फिर भी अगर आपको इस प्रकार का ये हुआ तो ये मुंह पर ना सकती ने तुम गाया तो ये तो हमारी ऊपर कृपा की बात थी ये आप आए और हमारे ऊपर कृपा की अब हमारे ऊपर कृपा की अब जब पक्षियों के राजा जरूर आकर के काल विष्णु जी की कौए की कथा सुनेंगे तो आप कौवे को गरुड़ को तो लगेगा अपने आप से हमारी भगवान की कथा को कितना आदर हो रहा है अब लोग और भी लोग उत्साहित होंगे सुनेंगे आ करके ऐसे करके प्रोत्साहन मिलेगा भगवान की कथा के लिए बोलने वाले कथा के लिए भक्ति के लिए तो ये धर्म का आना साधु को उत्साहित करना इसलिए था कहते हैं कि इसलिए जो है आपने हमारे ऊपर आकर दया की और फिर पति लोग ने संशय को खत्म करते ही कहते तुम्हारी भी कृपा ये है और भगवान की भी कृपा है कि आपने तुम्हारे संशय के द्वारा ही यहाँ पर हमको भेजा तो आप अपने मन से आए और कुछ भगवान ने आपको भेजा हमारे पास कहते पति लोग ने मोह बलाई हुई भगवान ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने हमको बलाई की तो देखो भगवान अब ये इस भगवान की इस कार्य में किसी क्रिएटिव छिपे रहते हैं इनको देखो इनके युद्ध तो हो रहा है युद्ध में युद्ध की जो रणभूमि की लीला है उस लीला को सौंदर्य प्रदान करने के लिए जो युद्ध अच्छा दिखाई दे उसके लिए यह भी जरूरी है कि कभी जीते कभी हारे तो जीतते जीतते चले जाए और भगवान महाप्राणों का ये भी जितनी सेना खड़ी हुई है और बस इच्छू मंत्र करने सब धराशायी हो जाए तो फिर क्या युद्ध हाँ, ये तो युद्ध नहीं हुआ युद्ध के लिए फिर रावण अपना बल दिखावे कुंभकर्ण अपना बल दिखावे और बहुत से बानवरों को मारे और भगवान को भी घायल कर दे भगवान भी तो उसको मारे तो फिर वो उसको मारे फिर इसलिए उत्साहित होकर के लड़े तो वो उत्साहित होकर के लड़े तब लगे कि हाँ ये रहा है इस प्रकार तो ये रंग क्रीड़ा को सुंदर बनाने के लिए भगवान ने मेघनाथ से अपने आप को बनवा लिया तो पहला प्रयोजन तो यही था लेकिन जो प्रयोजन तो हुआ रणलीला तो ही हुई लेकिन दूसरी बात ये कि अब गरुड़ आते हैं जब बंधन उनके काटते हैं तो गरुड़ ने पहले कभी अभिमान किया होगा तो उसके भी उसका भी उन्हें उपचार करना था भगवान तो उनके अंदर मोह पैदा कर दिया और फिर तो उसके बाद से उनके विष्णु के पास भेज दिया उनके सब पास तो आप देखो उनसे उसी उसी लीला में गरुड़ का भी हित हो गया उनका भी काम बनाया भगवान ने और फिर गरुड़ का भी काम नहीं बनाया तो का भी काम बनाया कथा सुनाते चले आ रहे थे कल्प कल्प बीत गए लेकिन जरूर कभी मिलने तमाम पक्षी वृद्ध वृद्ध सुनते थे लेकिन उनका राजा बन जाते हैं भगवान ने कहा कि अब गरुड़ भी तुम्हारे पास पहुंचेगा तो भी कथा सुनेगा तो काफी को महिमा प्रदान करने के लिए गरुड़ को तो उनका भी इसी उसी कार्य में वो भी प्रयोजन सकेगा तो ऐसे करके देखते हैं भगवान की लीलाओं में एक कार्य में कितने प्रयोजन छुपे होते हैं उनको सबको भूल का पता चलता है यही महापुरुषों का कार्य होता है महापुरुष लोग सिद्ध पुरुषों लोगों का ये एक कार्य होता है उनके पीछे चार प्रयोजन छुपे रहते हैं अब अन्य लोगों को प्रयोजन नहीं दिखाई देंगे कालांतर में जब प्रयोजन प्रकट होगा तब दिखाई देगा कि अच्छा किया प्रधान तो, भगवान के का ज्ञान बुद्धि दूर हो सब बहुत दूर के समय वाले ऐसे जिनका चित्र शुद्ध है ज्ञानवान है प्रबुद्ध है अपने आप में संतुष्ट धन्य है ऐसे व्यक्तियों की शुद्ध बुद्धि भी दूर दूरगामी होती बहुत प्रकार की सब पर ध्यान जाती है और सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं उसमें लगे रहते हैं तो इस तरीके से कार्यों से इस कार्य से अनेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं ये दिखाते होते हैं तो पते मोर हमने से खगपति तो रघुपति दीन बढ़ाई मोही और तुमने मोर कहा कहीं समझाई कहा कि आपने अपने मोह की जो बात कही अब कहा कि अगर हम ये मान भी लें कि तुमको मोह हो गया तो वैसे तुम्हें मोह हो नहीं सकता ये तो मोह का बहाना था तुम्हारे यहाँ आने का और भगवान के यहाँ भेजने लेकिन कहते चलो जब मान गए तुमको मोह हो गया तो मोह की बात ये सुन लो अब आगे जो गुप्त बात है की बातें बताना है तो उसी का सूत्र यहाँ छोड़ते हैं और कहते हैं तुम लेकिन मोह कभी भविष्य आई तुमने कहा था हमको तो मोह हो गया था इस प्रकार तो सो नहीं तो सुहाग करेगी गुस्सा तो ये भी कोई आश्चर्य की बात है अब ये कहो तुम भगवान के पार्षद हो तुम्हें ज्ञानी हो पक्षियों के राजा हो तो इसके कारण तुमको मोह न हो ऐसा ही नहीं हो सकता है मोह भी हो सकता है क्यों कहते हैं कि नारद बहुत रंग संता और जो मन नायक आत्मवादी वो नाम व्यक्ति रूप से ही अब कहते देखो कि चाहे नारद हो चाहे भगवान शंकर जी हो चाहे ग्रंथ मेरा ब्रह्मा जी हो चाहे संतादित ऋषि मुनि हो जो मुन नायक जो मुनियों के नए संतादित हैं जो मुनियों के नायक हैं और आत्मवादी हैं मैं आत्मज्ञानी है ब्रह्मज्ञानी है आत्मभाव में स्थित रहने वाले हैं तो कहते इनके विकास का घटना घटती है माया इनको भी नहीं छोड़ती लेकिन मोह ना अंधुखी में देखते ही कि मोह भला किस मोह ने किसको अंधा नहीं किया अब यहाँ पे तो देखो कविता भी है, है? और उनको मोह इत्यादि को की तुलना करके दिखाते हैं तो एक प्रकार से उसके मोह की व्याख्या भी है और ये इनके जो दुर्गुण है विचारों से दुर्गुण भी स्पष्ट हो जाते हैं जैसे मोह तो एक प्रकार से अंधा करने वाला अंधा मन मतलब फिर से सोचता नहीं व्यक्ति को हम सही कार्य कर रहे हैं कि गलत कार्य कर रहे हैं जब योग घेरता है व्यक्ति को तो ये नहीं पता चलता कि इसका परिणाम क्या होगा परिणाम उसे नहीं दिखाई देता जिसको अपने कार्यों को अपनी स्थिति के उसके परिणाम न सूझे समझो वो अंधा है और वो उसकी बुद्धि मोह से ग्रसित है तो कहते हैं मोह न पीन के से बड़े बड़े लोगों को नाम गिना दिया देवताओं को भी प्रदेव में गिना दिया मुनियों को भी गिना दिया तो फिर और साधारण आगे सर्कल कहेंगे कि फिर साधारण मनुष्य प्रकार के अभिमान करें तो उनकी विपत्ति बात कि जहाँ लोग नाम रखने में कहते ही कभी कभी लोग करे और ज्ञान बहुत कठिन है ज्ञान तो कुछ कठिन नहीं सरल आसान है आसान तो बहुत है लेकिन कोई आसान नहीं है बहुत कठिन है तो कितना कठिन है कितना आसान है अरे आसान तो है समझने में तो बड़ा आसान है लेकिन जब ये जीवन में उतरे और स्वभाव बदले और उसमें परिवर्तन आ गए उसके मोह आदि से निवृत्त हो तब पता लगे कितना कठिन घी चलावन करो तुला भर के देश बाबू भला कर रही थी तो जल काम नशावन नशावन गई अब देखो काम तो कभी नचाता है अंधा कर देता है काम नचाता काम करना कामना नाना प्रकार के विषयों की कामनाएं जो है ये ये भी संदेश पर तीनों प्रश करने की नाना प्रकार की कामनाएं हैं उन कामनाओं से ग्रसित व्यक्ति होता है तो तरह तरह की नाच नाचता अपने जो ऊंचा का पुरुष का क्या क्या नहीं करता कितनी भाग दौड़ कितनी परेशानी कितनी हाथ होगा सबका सबसे अधिक करता है सब परेशान होता घूमता ये सब नाच नाचना चलाता उसके लिए सब करता है और कैसे कृष्णा से बौराहा और कहते हैं कि कृष्णा किसको भावना नहीं बना देती पागल बता तो माने भावना पागल कर देती कृष्णा के माने कामना सिद्ध कामना जब हो जब चतुर्थ की कामना होती तो व्यक्ति पागल हो जाता पागल हो जाने के माने बौराहा हो जाने के माने कभी कभी व्यक्ति किसी कामना से इतना ज्यादा ग्रसित हो जाता है कि वो दूसरे की तो हत्या कर दे ऐसे काम साध्य काम करे थे जिसके काम को दिन लग जाए मरे फांसी लगे कुछ भी हो लेकिन वो कृष्णा के कारण इस साध्य कार्य भी पैदा देगा पागल करने काम कहेंगे कि तुम क्या पागल हो गए तो ऐसा क्यों कर दिया क्यों कर दिया उसने कैसे तो पता लगे कि उसके पीछे धन का कृष्णा जिसके कारण का काम ये सब कृष्णा किसी नदी में रहा और तेरे पर हृदय क्रोध नहीं कहा और क्रोध ने उसके हृदय को जलाया नहीं और क्रोध क्या करता तो भी ये समझता कि मैंने क्रोध करके दूसरे को बाण ऐसा मारा कि वो जो है वो व्यक्ति व्याकुल हो गया होगा हम्म? लेकिन वो अगर मान लो सही से है जीव है तो सही नहीं कर लिया उसने हाँ वो अपनी छाती में पहुंच बक्कर बांधे हुए दोबारा अपने उसको सही कर लिया लेकिन जो प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न होगा तो पहले जब वहां से वो चलता है तो हृदय से तो पहले चलाता है जैसे रॉकेट आजकल जो छोड़े जाते हैं तो रॉकेट से जहाँ वो बनाया जाता है खाता बनाकर खड़ा किया जाता है रॉकेट उसके ऊपर लगाया जाता है छूटता है तो जब उसमें पहले विस्फोट होता है तो हर रोड करके आग निकलती है और इतनी आग निकलती है आसपास के लोग खड़े नहीं सकते उसके पास हाँ? तो पहले तो वो जमीन आसपास के स्थान को ही जला देता है और तब वो का निकलता तब आगे बढ़ेगा ऐसे ही वापिस की तरह से क्रोध जब जिस हृदय में उत्पन्न होकर के सीखता है चलता है तो पहले तो हृदय को जला के कर देता हृदय क्रोध नहीं बना किसी क्रोध जो है किसके हृदय को पीड़ित जलाता में जलाना से हृदय जलता है क्रोधी जिसके अपने हृदय से जल रहा है वो सही कर देता जाने हमारा हृदय चल गया तो चल गया लेकिन हम तो जरूर जलाएंगे तो इतनी हिम्मत करता है तो ज्ञानी साहस सूर्य करी कोविद गुण आधार अब कहते हैं कि देखो कितने इतने महान व्यक्ति हुए जैसे पहले ऊपर गिनाए थे उनको नारद का ग्रंथ और चित्र गिनाते हैं कहते हैं बड़े वैज्ञानिक हो गए तपस्वी हो गए सूर्य हो गए कवि हो गए विद्वान हो गए कुबिर हो गए साक्षर जाता हो गए और गुण आधार गुणों के भंडार भी बहुत से लोग हो गए लेकिन कैसे लोग विडम्बना ही मेरे संसार लोग ने भरा किसकी विडम्बना में विडम्बना का करने में हसी हो लोग बाल लोग में पढ़कर कैसे से काम करते हैं तो हंसी विडम्बना जिस परिणाम को भोगने पड़ते हैं ऐसे लोग विकार के इनको व्यक्ति जो है इनके इनके विकारों को इनके दोषों को समझते नहीं और सबको पाले जाते हैं अपने होते और बढ़ने देते हैं इनका अभ्यास करते रहते हैं और ये सबके सब व्यक्ति को ही हानि पहुंचाने वाले हैं जिसके हृदय में उत्पन्न होते हैं उसी को दुख देते हैं तो कहते हैं ऐसे ऐसे जो है वो पहली पंक्ति बिना बना दिया इतने प्रकार के वो सब कई है लोग विडम्बना की मैंने संसार संसार में भरा तो लोग ने किसके विडम्बना नहीं की है लोगों में पढ़ करते हुए व्यक्ति भ्रष्टाचार करता तमाम पैसा जो है वो बेमानी का पैसा इकट्ठा करेगा लोग के तो कारण एक दूसरे का पैसा हाथ में आ गया तो देगा आ गया इस प्रकार का काम करे और उसके बाद में फिर क्या हुआ फिर वो दूसरा व्यक्ति उसकी निंदा करता घूमने का बदनामी उसकी फिर होगी कहीं उसको जो लोग बाग उसके फिर मारने के तैयार होंगे दे रहे हैं जिसका परिणाम और दूसरी तरफ प्रतिक्रिया नहीं थी तो वो लोग के कारण ये सब विडम्बना कौन करेगा लेकिन लोग नहीं छोड़े ये दुनिया में प्रकाश से होता रहता है दिखाते हैं जब तो संसार में जैसे ये होता है तो ये लोग व्यक्तियों को ऐसा नहीं कि बड़े ज्ञानी हैं बड़े समझते सूर हैं तो उनको ये लोग न हो ऐसे लोगों को भी लोग हो जाता है और लोग तो नए अनेक प्रकार के घंटा भी लोग है सम्मान का भी लोभ है मान का भी लोभ है प्रतिष्ठा का भी लोभ है और प्रकार के भी फल इत्यादि का भी लोभ है किसी के पास धन तो बहुत है धन की आवश्यकता नहीं है धन को तो खर्च नहीं कर सकते हैं लेकिन फल चाहिए और फल अगर जाता है तो उसके लिए सब कुछ करने तैयार है है इस प्रकार से उनकी विडम्बना होती है दो भाग के मानसिक विकार है ये व्यक्ति के जीवन को विनाश कर देने वाले सब ये सब विकार है व्यक्ति के जीवन के विनाशक श्रीमद पत्र श्रीमती श्रीमद पत्र श्रीमद के मन धन मत श्री मन संपत्ति वैभव श्री का तो धन संपत्ति वैभव और किसी व्यक्ति के पास हो गया तो उसका स्वभाव क्या होता है श्रीमद वस्त्र में ने कोई कुछ त्याग करो चलता चलता है माने वो अन्य लोगों को तेरी वजह से देखता है मैं इतना ज्यादा धनबाद संपन्न हुआ उसके बाद कुछ नहीं बेकार था और फिर उसको वक्त कमाने फिर वो जो अकड़ जाता है जीवन में व्यवहार काल में भी गलत काम करने लगता है कहीं संपत्ति के प्रभाव पड़ करके कहीं वो अपने मदरा पान इत्यादि है देशागमन इत्यादि है जुआ इत्यादि खेलना जो है इन सब के दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है ये भी दस्तगति है उसकी ये भी सब हो जाती है ये धन का ही दुष्परिणाम उनका जीवन भोगना पड़ता है इस जीवन में और फिर कहते हैं प्रभुता बदलना आए और धन संपत्ति के कारण से व्यक्ति इतना अपने आप को अहंकारी बना लेता है कि फिर वो किसी की बात को सुनता नहीं होने के मैंने किसी को सुनता ही कोई भी शिक्षा दे सब शिक्षा देने वाले एक से मिले ज्ञानी मिले बुद्धिमान मिले अरे साधारण व्यक्ति का भगवान मिले और उसको अच्छी अच्छी बातें बहुत सुनाने समझाने लेकिन वो सुनाने नहीं उसका उदाहरण इसको पहले बालकाई में देखते हैं नारद जी को हो गया नारद जी का अपमान जहाँ हो गया शंकर जी ने बहुत समझाया इस मेरे चले गए सात साल में पर वोट करके भगवान के पास जाकर के वही देखते और उधर देखते हैं रावण को रावण जो है इतना उसको अभिमान हो गया तीनों लोगों को उसने जीत लिया और उसकी प्रभुता के कारण से कि मेरे समान कौन है अगर मैं जितना बुद्धिमान न होता बलवान न होता तो तीनों लोगों का जीत लेता अब हमारे समान दूसरा कौन है अब कोई नहीं अगर कोई हमारे समान होता हमसे ज्यादा शक्तिशाली होता हमसे ज्यादा बुद्धिमानी तो वही तीनों लोगों का सामने होता हम कैसे हो जाते इसलिए हमें भी जो लोगों के स्वामी है यही इस बात को सिद्ध करता है कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है इसलिए हमें किसी की बात नहीं अब जैसे तमाम शिक्षा देने वाले चंदन हो चाहे विभीषण हो और चाहे और उनके माल्यवान हो चाहे कोई भी हो और चाहे हनुमान हो और चाहे अंगद हो और चाहे लक्ष्मण जी ने उनकी चिंतित कर चाहे वो हो चाहे कोई भी हो लेकिन उनको तो किसी की बात दुर्मकाल शास्त्र कहते हैं मृग लोकन के नयन कर कुवत में जाए अभी देखो इस नारद जी की कथा इसके लिए पर्याप्त तो भगवान ने जो है वो वहाँ श्री राजा की नगरी बना दी और बस उसकी कन्या बना दी अब बस नारद जी जो है स्वयंवर में आप जो अपने पंद्रह समूह बनाए उसमें बैठे हुए हैं हाँ? अब राजा की पुत्री जो राजकुमारी वो सब जगह जाती जहाँ देख लेती उनके बंदर बैठे हुए तो लग जाती पीछे उनके घर के मारे तो बंदर के पास कोई जाए उनके पास आते हैं तो नारायण जी घूम करके फिर जब जाकर बस जाती जाकर के जिधर वो जा रहे थे उस रास्ते में वो जाकर के फिर दूसरी को तमाम पूछना पड़ेंगे और यहाँ खाली करके मिले उनको कहा फोन करके जा करके फिर गए बैठ क्या हम इधर से निकले की शायद अब देख लेंगे अब बताओ और हमसे आगे सुंदर रूप किसका अब ये सब वहां की कथा सुन लो तो बस इसका भी बात करो तुलसीदास को कहना है उसी पर भी समझ में आ ये काम करते जो है जो शब्दों में प्रयोग किया जाता है एक जंगल तो अर्थ में प्रयोग किया जाता है कामनाओं के अपने में काम शब्द सोच करके बोलते रहते हैं और इस काम पर्टिकुलर काम करके सच का भी प्रूफ हो जाता है दोनों ही प्रकार के विकार हैं दोनों ही काम विकार में वो व्यक्ति को विकृत करने वाले हैं अशांति प्रदान करने वाले हैं बुद्धि को बिगाड़ने वाले हैं जीवन को पतन में ले जाने वाले हैं ये बात अब इसी में से और भी कुछ बातें हैं अब वो आगे अब ये कार्य सुनिधि है ये कुछ ऐसी बातें हैं जो की वहाँ पर राम कथा के बीच में नहीं आ रही सब उनको सुना रहे हैं और ये गोप्यमत है गोप्यम अति गोप्यम है वो सब बातें सुना रहे हैं देखो ऐसी ऐसी बातें फिर और भी बहुत सी इस प्रकार की बातें हैं फिर माया क्या है वो सब बताते हैं तो तुम माया पति भगवान क्या है वो भी बताते हैं कि भगवान किस प्रकार से माया जाल से जीव को छुड़ाते है ये सब गोपनीय बातें हैं वो सब यही बताते हैं समय में कारकुशुंड जी बड़े उत्साहित होकर के और गरीब जैसे श्रेष्ठ श्रोता को प्राप्त करके ये सब बातें उनको समझा